वो धर्म को तो उसने छोड़ दिया और पीछे मुझको दबाने के लिए आता है कि क्योंकि वो मेरी लड़की है तो मैं तो उसको एक को नहीं दूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने माँ बाप हैं जो उनके वाली पड़े हैं और कोई ऐसे न करें कि हम तो पैसा देंगे लेकिन हमारी लड़की को लाओ लड़की आखिर तो खुदा के पास पड़ी है ईश्वर सबको देखने वाला है आज जो बाप है या तो उसका पति है वो तो मर जाएगा तो पीछे लड़की कहाँ जाएगी वो बीबी कहाँ जाएगी इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे किसी के लिए कोरी नहीं लेना है हाँ वो दूसरी बात है कि हम वो लड़की को आना है तो आने के लिए हम किराया दे देते हैं वो दूसरी बात है लेकिन वो आता है गुंडा और कोई भी हो वो कहें कि इतना पैसा हमको दे दो माना कैसा हो कि वो तो बनने वाली चीज़ नहीं वो कहेंगे नहीं लेकिन मैं तो दृष्टांत देता हूँ तो उसका दू यहाँ का दू के माना कि हमने भी वो तो काम तो किया है ना कि कुछ मुस्लिम लड़कियों को रखा है रखा है तो पीछे हम कहें माना कि हुकूमत कह दें ईस्ट पंजाब की कहें या तो यहाँ जो जो मध्यवर्ती हुकूमत है वो कहें जनरल साहब को कहा कि आप हमको एक लाख रुपया दे दें तो जितनी लड़कियां हमारे पास है वो दे देंगे ऐसी पाजी हमारी हुकूमत हो सकती है और इस तरह से व्यापार करेगी मैं कहता हूँ कि वो हुकूमत को डूब जाना चाहिए अगर हुकूमत ऐसा काम करे तो लेकिन हुकूमत को भी मैं तो कोड़ी नहीं दूंगा हुकूमत ने तो नीच काम किया है खराब काम किया है अगर हुकूमत उसका जिम्मे जिम्मेवारी अपने सर पे लेती है तो तो हुकूमत को तो मेरे पास तोबा करना चाहिए और तोबा के साथ वो दे देना चाहिए मेरी दृष्टि मुझको देनी चाहिए और मुझको कुछ इनाम देना चाहिए कि अच्छा अभी मैं देता हूँ ऐसा अगर हम न बने ऐसा हम शुद्ध न रहें बहादुर न बने तो हमारा काम निपट हमारा काम अच्छी तरह से होने वाला नहीं है इसलिए मुझको लगा कि इतनी चीज़ें तो मैं कह दूंगा अभी कोई चीज़ रह गई हो तो मैं देख लेता हूँ हाँ हाँ वो तो मैं भूल ही जाता था दूसरा भी इसमें लिखा तो है। वो काठियावाड़ की बात मैंने आपको कही थी वो तो भूलना ही नहीं चाहिए कि वो शख्स बात मैंने सुन ली जैसी मैंने सुन ली ऐसी ही आपको कही अखबार की बात और अखबार भी तो ऐसा और पीछे मुझको कुछ हिंदुओं ने भी सुनाया तो आज सरदार जी मेरे पास थे तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप आपने वहां तो गए तो सही बड़ी बड़ी बहस तो कर ली कि एक मुसलमान लड़का है मुसलमान लड़की है उसका भी उसका भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता है मरीज और उनको छू नहीं सकता है तो अभी वो कहते हैं कि लूट लिया उनको मारपीट हुई उसका उसका सामान मकान वगैरह जला दिया वो सब क्या हुआ और ये तो लिखते हैं कि लड़कियों को उठा गए किसी को मार भी डाला तो उसने कहा मुझको कि जहां तक मैं जानता हूँ और मैं ठीक जानता हूँ कि एक भी मुसलमान को मार नहीं डाला है ये और, और एक भी मुसलमान का मकान चलाया नहीं है लूटा भी नहीं है हाँ इतना हो गया सही लेकिन वो तो उनका जो व्याख्यान हो गया उसके पहले की बात है कि जब ये सब गोलमाल चल रहा था तो कई जगह पे लूट तो हुई कई जगह पे कुछ जलाया भी होगा लेकिन वो दो चीज तो नहीं बनी है किसी को मारा नहीं है और न किसी को किसी को किसी के लड़कियों को उठा गए ये तो हुआ नहीं है लेकिन हाँ ऐसा की आशा है वो आज बदगुमानी फैल गई है लोगों में ऐसा ही हो गया कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो वहाँ तो खासा उनका एजेंट भी रहता है ना कमिश्नर के कोई भी है तो उनको हुक्म चला गया कि ऐसे हो नहीं सकता है हमारे यहाँ तो इसलिए वो सब तुम्हारे उसका उसका बंदोबस्त करना है और वो कोई भी मुसलमान को छू नहीं सकता है लूट नहीं सकता है तो उसके लिए जो तजवीज़ करनी चाहिए तो हो गई और बाद में तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा वो कहना चाहते हैं तो मैंने उनको पूछा कि तब मैं ये बात कहूँ तो उसने कहा खुशी से तो कह सकता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है अगर कुछ कहीं भी हो गया है तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा और इतना मैं कह सकता हूँ साथ साथ में तो वो तो मुझको नहीं बाद में वो भूल गए थे इसलिए वो कहा कि इतना नहीं लेकिन गांधी को इतना भी कहता है कि वहाँ जो कांग्रेस के हिंदू हैं उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर मुसलमानों को बचाने की कोशिश की है उनकी उनकी जो मिलकत थी जायदाद थी उसको भी बचाने की कोशिश की है तो ऐसा कभी वो गुंडाबाजी काठियावाड़ में चलने वाली नहीं है न चल सकती है जब तक मैं बड़ा हूँ और मेरे हाथ में वो तो होम डिपार्टमेंट तो उनके हाथ में ही ना है तब तक वो मैं नहीं होने दूंगा तो मैं तो बहुत राजी हुआ तो मैंने उनको पूछा वो तो मैंने आपको कहा कि मैं तब इस सभा में कह दूं तो उसने कहा कि खुशी से मेरा नाम देकर तू कह सकता है तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि कल तो मैंने कहा और आज मुझको इतनी खबर मिलती है अभी कुछ रह जाता है कि नहीं हैं वो तो मैं कह दिया मेरा ख्याल है कि अब तो कुछ हो गया हो तो मुझे कल कह दूंगा मैंने बहुत कहा बस